अलबत्ता जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से भलाई पहले से लिखी जा चुकी है यानी नेक मोमिन उनको उस जहन्नुम से दूर रखा जाएगा